ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग जमाने का संगीत ही ऐसा मधुर था सब गीत के बोल भी ऐसे पुरकशिश थे कि उन्हें सुनकर लोगों पर वही असर होता था जैसे इंदिवर के लिखे हुए 1964 के एक गीत के मुखड़े में कहा गया था यानी तबीयत बहल जाएगी मौत भी आ गई हो तो चल जा भाई हमारे फिल्मी संगीत की इस कैफियत की एक बड़ी सच्ची कहानी मैं आपको कभी और सुनाऊंगा दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब खाए उतना ही जितना है उसका नसीब कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब खाए उतना ही जितना है कन नसीब आगे मालिक के चलता नहीं कोई दाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम किस्मत की लिखी हुई है किताब तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब तेरी किस्मत की लिखी हुई है तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब तेरे बस में न सुबह है न तेरी शाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम कभी गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग कभी गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग चांद सूरज जमीन सब उसके गुलाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम लीजिए साहब एक के बाद एक दो और गीत आपने उन्नीस की छाव से लिए हुए सुने अब आइए झटपट मकबूलियत यानी लोकप्रियता की धूप में सवरे कुछ और गीतों की हो जाए झलक नंबर तेरह पर थी फिल्म बसंत बहार की बेचैनी नंबर बारह पर एक झलक हाँ, हाँ फिल्म का नाम भी एक झलक अजरा अजरा मेरे दिल के सहारे दिल रुबा तेरे लिए मेरे दिल में तेरी याद है जवा अजरा वैसे ये आजा जरा की धुन जो थी ये एक ट्रम्पेट पर बजाई हुई इंग्लिश धुन से इंस्पायर होकर बनी थी किस धुन से ये आप ही ढूंढ निकालिए और मुझे लिखकर बताइए हम्म मगर पहले जरा एक लड़की का लिखा हुआ खत प्यारा खत सुनिए लड़की का नाम मैं बाद में बताऊंगा आपको इन्होंने ईमेल में लिखा है देयर अमीन साहब गीतमाला की छाओ में के वॉल्यूम्स लाजवाब अनमोल हीरे हैं और मेरे लिए तो आपकी गीतमाला से जुड़ी हुई हर चीज मेरे जीवन का एक हिस्सा लगती है क्योंकि मेरी अम्मा भी इतनी लगन से गीतमाला रेडियो प्रोग्राम सुना करती थी कि जब उनकी पहली संतान यानी मैं पैदा हुई ना तो उन्होंने मेरा नाम ही रख दिया गीतमाला <laughs> वाह भाई वाह बहनों भाई तो यही है इनका नाम गीत माला जलोटा वाह वाह क्या नाम रखा है वेरी गुड तो भाई इस समय हम सब के साथ आ, गीत माला भी याद कर रही है यानी गीत माला जलोटा भी याद कर रही है उन्नीस का हिट गीत नंबर ग्यारह मुन्ना मुसाफिर वाला मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा कोई कहे चाँद कोई आँख कतारा कोई कहे चाँद कोई आँख कतारा हस तो भला लगे रोए तो भला लगे हमी को उसके बिना कुछ अच्छा न लगे जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल तुमको लगे मेरी उम्र जियो मेरे लाल अच्छा भाई जब ये गजब के हरफन मौला किशोर कुमार खुद मुन्ने थे ना तो उनका गला हमेशा खराब रहता था बस सारा वक्त वो खांसते ही रहते थे फिर एक दिन क्या हुआ उछल कूद करते हुए मास्टर किशोर इतनी बुरी तरह गिरे कि उनके पैर के अंगूठे में जबरदस्त चोट आ गई और किशोर दो दिन तक बस रोते ही रहे रोते ही रहे चुप हो जा अमीरों के ये सोने की घड़ी है चुप हो जा अमीरों के ये सोने की घड़ी है तेरे लिए रोने को बहुत उम्र पड़ी है तेरे लिए रोने को बहुत उम्र पड़ी है चुप हो जा चुप हो जा वैसे फिल्म बंदी का ये गीत उस साल नंबर दस पर था और देखिए यार सिचुएशन पर कैसे फिट हो गया सर खैर नन्हे किशोर के रोने की कहानी यूं आगे बढ़ती है, है? दो रोज तक लगातार रोते रोते ये चमत्कार हुआ कि किशोर बबुआ का गला ठीक हो गया हाँ। आवाज खुल गई और उन्होंने रोना बंद करके गाना शुरू कर दिया और बचपन में किशोर कुमार कैसे गीत गाया करते थे ये उन्होंने खुद बताया था मुझे सुनिए सुनिए सुनो बच्चे किशोर से बातचीत कौन कर रहा है किशोर के पिताजी अरे किशोर क्या है बाबा मेरे कुछ वकील दोस्त लोग आए हैं एक गाना तो सुना दे अच्छा तो पहले बोलो किसका गाने सुनोगे मेरे गुरुजी छैगल साहब का या मेरे बड़े भाई अशोक कुमार का तुमको लेट मालूम है ना छैगल साहब के गाने का एक रुपया और दादा मुनि के गाने की चवन्नी तो, तो, तो, तो, तो फिर तू चवन्नी ही सुना इन लोगों को सस्ते में काम पड़ जाएगा नहीं नहीं मैं एक रुपया चुनाऊंगा काका जी लोग आप बोलिए ना बाबा को हाँ हाँ बेटे तू सहगल साहब का ही गाना सुना हम्म, एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला गोला एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोला देर रेत की खातिर अपने घर से निकला अपने घर से निकला अपने घर से निकला और बहनों और भाइयों यही नटखटपना दा की जिंदगी में उम्र भर रहा गानों में भी और एक्टिंग में भी और यहाँ तक कि जिंदगी में भी गीत माला की छाव में आगे चलकर मैं इनकी अटखेलियों के कुछ और नमूने भी पेश करूंगा इंतजार कीजिएगा मगर अब हो जाइए जरा सा सीरियस जी हाँ क्योंकि एक बड़े सुरीले इंसान म्यूजिक डायरेक्टर रवि जिनके संगीत में ढले हुए उन्नीस के एक भजन ने तो भाई सन 2009 में आकर एक इंटरनेशनल खलबली बचा दी हुआ ये बहनों भाइयों कि 2009 में रिलीज हुई मुंबई की झोपड़ पट्टियों पर बनी एक बड़ी अच्छी फिल्म जो एक अंग्रेज ने बनाई थी उसमें एक बहुत बड़े क्विज कॉन्टेस्ट में एक बच्चे से पूछा गया कि बताओ दर्शन दो घन श्याम नाथ मुरी अखियां प्यासी रे ये भजन किसने लिखा बच्चे ने जवाब दिया सूरदास जवाब सही मान लिया गया और बच्चे ने इनाम जीत लिया मगर साहब फिल्म रिलीज होती मेरे पास कई ईमेल्स और खत आने लगे कि अमीन भाई अमीन भाई कुछ कीजिए ये तो अन्याय हो गया ये भजन सूरदास जी का नहीं बल्कि गुजरात के संत नरसी मेहता पर बनी फिल्म नरसी भगत का है जिसकी धुन रवि साहब ने बनाई थी अब <laughs> भाई ऐसी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी में भला मैं क्या कर सकता था मैंने तो वो सभी खत अपने एक ज्ञानकार और बड़े मशहूर पत्रकार दोस्त दिल्ली के राजीव श्रीवास्तव को भेज दिए उन्होंने पूछताछ शुरू की रवि साहब से भी पूछा और नतीजा क्या हुआ ये अभी बताता हूँ आपको बहनों भाइयों पहले वो पुरसर भजन सुन लीजिए हेमंत कुमार मन्ना डे और सुधा मल्होत्रा का गाया हुआ जिसे काफी अच्छी क्वालिटी में हमें भेजने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मुंबई के मोहन भम्बानी साहब का दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी प्यासी रे पर्दा को जब तू खोले पंचम करने जी कर प्यास बुझाऊं नन को कैसे समझाऊं आँख में चोली छोड़ो अब तो मन के पाती रे दर्शन तो घन श्याम नाथ मोदी अखियाँ प्यासी रे तो साहब म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने ये कंफर्म किया कि ये भजन सूरदास जी का तो बिल्कुल नहीं था और वैसे वो गुजरात के संग नरसी मेहता का भी नहीं था क्योंकि नरसी जी तो अपने भजन गुजराती में कहते थे गुजराती में कहते थे असल में ये गीत हिंदी फिल्म नरसी भगत के लिए लिखा था जाने पहचाने गीतकार गोपाल सिंह नेपाली ने नरसी की बिनती सुन लो भक्त विलासी रे दर्शन दो धन तो चलिए भाई वो गलती तो सुधर गई अब मेरी एक गलती सामने आने वाली है मगर इससे पहले स्वागत कीजिए उन्नीस की चार सुपरहिट झलकों का नंबर नौ पर बेन माना जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं तुम्हें बन के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं माना जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुफ्त में बन के चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं नंबर आठ पर था फिल्म हम सब चोर है का गीत पंचम पंचम खोज पापू होगी तेरी हार चिकड़म कुछ न चलेगा जीत गया मेरा प्यार चिकड़म चिकड़म कुछ न चलेगा जीत गया मेरा प्यार उन्नीस सौ सत्तावन में नंबर सात मिस मैरी ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है तू तो फैसला सुना दे तो रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है तो फैसला सुना दे और जो अनोखा प्यारा गीत फिल्म पेइंग गेस्ट का नंबर छह पर था उस साल उसे सुनने से पहले सुनिए कि उस गीत के बारे में और दादा एस डी बर्मन के बारे में शरारती सुरों की मलिका आशा भोसले ने क्या बताया था मुझे एस डी बर्मन साहब दादा उनकी खास बात ये थी कि रिहर्सल में बुलाते थे और गाना बनाते थे जैसे एक मुखड़ा बन गया तो उस मुखड़े को वो दो तीन तरीके से गाते थे फिर मुझे कहते थे तुम्हें कुछ सोचता है तो तुम अपनी तरीके से गाओ तो हम अपने तरीके से गाते थे उनको अच्छा लगता था उम्र में बड़े थे हम्म। तो अच्छा नहीं लगता था बोलते धर ये क्या गा रहा है तुम और अगर अच्छा लगता था तो वाह ये इसको लिख के रखो आशा इस तरह उनके साथ चार पांच दिन अगर हम निकालते थे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था हम्म, हम्म। हाँ। मैंने गाना गाया था छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा तो उसमें था आह छोड़ दो आचल तो उन्होंने कहा ये आह तुमको आता नहीं है कैसा नहीं आता है तुमको उसका फादर भी आना चाहिए <laughs> ऐसे बोलते थे मैंने कहा दादा नहीं आ रहे बोले सोचो तुम्हारा पल्लू भोसले साहब ने पकड़ा तो तुम क्या करोगे <laughs> तो मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे दे के वो गाने गवाते थे हम्म, हम्म। छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा ओ छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा ओ छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा अच्छा अब सुनिए साहब कि क्या कहा है न जाने किस शहर के डी के लाल ने अपने ईमेल में ये लिखते हैं अमीन साहब आप गीतमाला की छाव में बहुत बड़ी गलती कर गए उसमें आपने कहा कि 1954 में जो पहली वार्षिक हिट परेड गीतमाला शुरू हुई उसमें साल के आखिर में गीत नंबर एक था जाए तो जाए कहा फिल्म टैक्सी ड्राइवर और नंबर दो पर था नागिन का गीत मन डोले मेरा तन डोले मगर 1977 यानी 1977 में आपने एचएमवी के लिए जो गीतमाला सिल्वर जुबली प्रेजेंटेशन के एलपी रिकॉर्ड्स बनाए थे उसमें तो आपने कहा था कि 1954 का टॉप हिट गीत नंबर वन था मन डोले फिल्म नागिन तो गीतमाला की छाव में ये आपने कैसी गलती कर दी अरे भाई मेरे डी के लाल साहब गलती वाले की छाव में नहीं बल्कि 1977 में बने उन सिल्वर जुबली रिकॉर्ड्स में मुझसे हो गई थी जिसे मैंने बाद में सुधारा कुछ वफादार गीतमाला प्रेमियों की मदद से जैसे राजकोट के मधुसूदन भट्ट अजमेर के महावीर सिंह चौहान और जयपुर के अनिल भार्गव तो लाल साहब अगर आप एक बार फिर जरा ध्यान देकर सुनेंगे ना तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये गलती क्यों और कैसे हुई थी और तब तक उन्नीस की छाव में छुपे एक और खूबसूरत गीत पर नजर डालिए तो वो गीत आपसे कहेगा तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं हाँ। उसकी आंखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं मान लिया कश है बहुत ये रात हसी ये चांद जवा बाद दे नजारों में वो बात कहा सामने मेरे तू हो अगर दुनिया के नजारे कुछ भी नहीं तेरी चमकती आंखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं कर दे आजाद समों के मारों को प्यार की तेरे छाँव मिले तो हम के सरारे कुछ भी मिले तेरी चमक चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी मिले कुछ एक ऊंचे हैंडसम नौजवान भी थे उस ऑडियंस में मेरे रिकॉर्डिस्ट के वर्गीज जॉन जो सन 1973 1973 से मेरे साथी रहे हैं रिकॉर्डिस्ट की ट्रेनिंग उन्होंने रेडियो सिलोन की एजेंसी में ली और उन्नीस से जब मैंने अपना अलग काम शुरू किया तब से वही मेरे one and only chief recordist रहे हैं जॉन की बढ़िया रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग का नतीजा तो आपको गीतमाला की छाव में नजर आता ही रहा है ना <laughs> देखिए ये तालियां भी यहाँ जॉन ही ने खुद लगा दी <laughs> मगर बहनों भाइयों तालियां जायज है और बहनों और भाइयों अब आप मन ही मन तालियां बजाइए उन्नीस की एक गजब की म्यूजिकल फिल्म के लिए जिसके एक गीत ने उस साल नंबर 21 पर रंग जमाया और एक और गीत ने नंबर 13 पर दोनों की झलके आप सुनी चुके हैं मगर उस फिल्म में सात और लाजवाब गीत थे जो छाओ में रह गए जैसे सुरना सजे क्या गाऊं मैं सुरना सजे क्या गाऊं मैं सुर के बिना जीवन सुना सुर के बिना जीवन सुना सुरना सजे गाऊं मैं सुगना हमें पिया तेरी तुम्हारी की गुलाब जूही चंपक बन फूले केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले ऋतु बसंत अपन कंत गौरी गरवाल गाय झूलना में बैठ आज पी के संग झूले के तकी गुलाब जूही चंपक बन फूले करीब करीब पूरा बजाऊंगा आपकी शान में कज गया रे कज गया मुझ पे जादू सवरिया कर गया मुझ पे जादू हकीकत छिपी हुई है और वो सच्चाई ये है कि हर इंसान में एक चोर भी होता है और एक साधु भी एक शैतान भी होता है एक फरिश्ता भी और ऊपर वाले ने ये हम पर छोड़ दिया है कि हम चाहे तो बुरे बने चाहे तो अच्छे बने चाहे